तत्व इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनि मे प्रपद्य शरीरत्वाय देन स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म य ये सुखे सुजागरते कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नास्ती कश्चन ये तद वही तत्व हंत इदम प्रवक्षा और वो बार बार समझाने पर भी ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि मनुष्य एक पूर्वग्रह में आबद्ध हो गया है एक इसको किसी ऐसे ग्रह की कल्पना हो गई है जो चिदाकाश में कभी पैदा ही नहीं हुआ और है ही नहीं और होगा ही नहीं और उस ग्रह की कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है वो हमारे चौथे आठवें बारहवें स्थान पर हो गया है, और वो हमको सता रहा है एक ऐसी कुकल्पना मनुष्य के मन में हो गई है ग्रह क्या है तो हम अपने को किसी खास स्थिति में बैठा करके सब हम वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं वस्तु की स्थिति क्या है ये तो हम देखने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं कैसी गलत जगह पर बैठ करके उस वस्तु को देख रहा हूँ इधर ध्यान नहीं जाता ऐसा मुख्य बात यही है कि अपने को जीव बना के तब हम ईश्वर को देखना चाहते हैं अपने को परिच्छिन्न देह बना के तब हम ब्रह्म को देखना चाहते हैं असल में यदि तुम ब्रह्म की ईश्वर की जांच पड़ताल करना चाहते हो अनुसंधान करना चाहते हो तो पहले ये भी तो जांच कर ले हो कि मैं ठीक जगह पर बैठ करके उसकी जांच कर रहा हूं कि नहीं अदालत में कोई मुकदमा आता है ना तो इसी बात पर वकील लड़ जाते हैं कि इस अदालत को इस मुकदमे पर विचार करने का अधिकार है कि नहीं है और कई बार बड़े बड़े जजों को इस बारे में है, मात खानी पड़ती है उनको मानना पड़ता है कि इस ये मुकदमा हमारे क्षेत्र में हमारे दायरे में नहीं आता है तो हम आंख से अगर ब्रह्म को देखना चाहते हैं कि हम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न को अद्वय को परिपूर्ण को जिसमें दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है उसको है, हम आंख से देखेंगे या मन से देखेंगे या बुद्धि से देखेंगे या हम देखेंगे हम देखेंगे कैसे तुम परिपूर्ण को देखोगे कैसे अद्वैत को देखोगे हाँ। अरे पहले हमको तो देख लो ये महात्मा लोग ये बोलते हैं वो एक ने जाके कहा महाराज हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो महात्मा बोले कि भाई ईश्वर तो सारे विश्व में रहता है ना और तू तो केवल एक साढ़े तीन हाथ के शरीर में रहता है पहले अपने को देख ले साढ़े तीन हाथ वाले को नहीं देखा जा तो सारे विश्व वाले को कैसे देखा जा तो ये गांव में बोलते हैं कि कुएं में भांग पड़ गई कहीं कहीं समझाओ सब जग अंधा कबीर साहब बोलते हैं किसको किसको समझा तो पूर्वक ग्रह क्या है देह में कल्पित अथवा देह के कर्णों का उपयोग करने वाले देह से गिरे हुए देह से परिच्छिन्न किसी वस्तु को पहले हम मैं मान लेते हैं तब अनंत को ढूंढते हैं और जिसको तुम मैं मान रहे हो उसी की पहले खोज कर लो हाथ कंगन को आरती क्या अपने आप को ही पहले जान लो कि तुम्हारा ये मैं देह है कि नहीं है यही पूर्वग्रह है वो ये अविद्या निमित्तक सशरीरत्व है शंकराचार्य व्यवहार में और समन्वय अधिकरण में सशरीरत्व अविद्या निमित्तत्वात् ये जो तुम अपने को स्वशरीर मानते हो शरीर वाला मानते हो यही तो अपने स्वरूप को न जानकर अपने को शरीर और शरीर वाला मानते हो तो जग विज्ञाना सर्व संसारों परमो भवती जिसके विज्ञान से जन्म मृत्यु भूख प्यास और शोक मोह इन छह उर्मियों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और जिसके अज्ञान से ही तुम अपने को जन्म मरण वाला भूख प्यास वाला शोक मोह वाला अपने को मान रहे हो शोकग्रस्त हो रहे हो मोहग्रस्त हो रहे हो जिसके अज्ञान से और जिसके ज्ञान से इन सब दोषों और दुखों से मुक्त हो जाते हो हम तथा इवम प्रवक्ष्यामी आओ आओ हम अब उसी का वर्णन करते हैं जिससे तुम सोच रहे से मुक्त हो जाओ जैसे दुकान के पैसे को जो मेरा मानेगा हाँ, इस दुकान में गया यहां से वहां गया वहां से वहां गया ये पैसा है घुमंतु घुमंतु है ना ऐसा घुमंतु राम है कि नहीं है कि जब उसको तुम मेरा मान के चाहोगे कि हमेशा हमारे पॉकेट में ही रहे तो तुम्हें तकलीफ होगी वो कभी आता है कभी जाता है उसके स्वभाव को पहचानना पड़ेगा इसी प्रकार कुटुम्बी हैं वो कभी आते हैं कभी जाते हैं अपने कभी रिश्तेदार नातेदार हैं कभी आते हैं कभी जाते हैं किसी को छाती से चिपका के थोड़ी रखा जा सकता है तो इस शरीर को भी छाती से चिपका के नहीं रखा जा सकता आओ ये तुम्हारे मैं के भीतर छिपा हुआ जो गुहजिया स्वामी कार्तिक गुह बोलता है ना गुह स्वामी कार्तिक का एक नाम गुह है वो स्वामी कार्तिक ये जो गुरुजम ब्रह्म सनातनम है तुम्हारी आंख की पुतली में छिपा हुआ है तुम्हारे दिल की धड़कन में छिपा हुआ है तुम्हारे मैं मैं की फुरना में छिपा हुआ है, है? लेकिन बाहर बाहर देखने से नहीं मालूम पड़ता जब गंभीरता से देखोगे तब मालूम पड़ेगा गुज्यम ब्रह्म सनातनम गुज्यम माने प्रत्यक्ष चैतन्य रूपात्म चैतन्य और ब्रह्म माने अनंत और सनातन माने अविनाशी ये तुम्हारा स्वरूप अनंत और अविनाशी जिसमें द्वैत का नामो निशान नहीं जिसके ज्ञान से शोक मोह सर्व दूर हो जाता है आओ आओ अब हम इसका प्रदर्शन करते हैं बोले न सुने हम न जाने तो क्या होगा बोले ये होगा कि जद ज्ञानार्थ जिसका विज्ञान प्राप्त न करने से अभिज्ञानाश्चर्य जिसको न जानने से तुमको ये मालूम पड़ता है कि मैं हड्डी मांस चाम का पुतला हूं कितनी गंदी बात है जिसको न जानने से तुम अपने को पापी आत्मा समझते हो जिसको न जानने से अपने को सुखी दुखी समझते हो जिसको न जानने से तुम अपने को नरक स्वर्ग में जाने आने वाला समझते हो जिसको न जानने से ही तुम किसी चीज के बिछुड़ने से या आने से रो रहे हो या बिछुड़ने और आने से हंस रहे हो ये केवल तुम्हारा है ना सारा दुख ख्याली पुलाव है तो आओ गौतम नासिकेता तुम अग्नि हो कि नहीं ये नसिकेता माने आग होता है अग्नि इसका मतलब होता है कि तुम अपने सिवाय सबको जलाने के लिए तैयार हो कि नहीं देखो कहाँ डर लगता है तुमको एक कीड़ा से लेकर के कीट से लेकर के ईश्वर पर और एक कृण से लेकर के प्रकृति तक कौन सी वस्तु ज्ञानाग्नि में जलाते समय तुमको संतोष होता है जरा अपने आप को समझ लो गौतमा गौतमा माने नचिकेतस नचिकेतस माने अग्नि तो हे अग्निदेव हे ज्ञानाग्नि रूप हे ज्ञानाग्नि स्वरूप जिज्ञासो अगर तुम सबको भस्म करने के लिए तैयार हो तो देखो तुम्हारे लिए किसके बिछुड़ने का दुख है और किसको मिलने का दुख है स्वतंत्र हो गया ना क्या स्वतंत्र है सबको ज्ञान आग्नि में सबको भस्म करना ज्ञान आग्नि में भस्म करने से क्या होता है कि कोई चीज नहीं जलती ज्ञान आग्नि में चीज नहीं जलती केवल भ्रांति जलती है स्त्री स्त्री रहेगी पुत्र पुत्र रहेगा धन धन रहेगा पति पति रहेगा मकान मकान रहेगा ये धरती आसमान ज्यो के क्यों रहेंगे और ये ज्ञानाग्नि से परिपुष्ट हो जाएंगे संदग्ध हो जाएंगे तुम ऐसी जलती हुई आग हो किसी देश में फंसो मत किसी काल में फंसो मत किसी वस्तु में फंसो मत अपनी अंतर्दृष्टि से अपनी अंतर्दृष्टि से आत्मदृष्टि से सबका बात कर दो अब ये हुआ कि अज्ञानी लोगों की क्या गति होती है और ज्ञानी का स्वरूप क्या है तो योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् यो ये सुप्तेषु जागृति कामम् कामम् पुरुषो निर्मृमाणः अच्छा एक बात आपको सुना एक नास्तिक भी मरण के अनंतर आत्मा का आना जाना नरक स्वर्ग पुनर्जन्म नहीं मानता नास्तिक नहीं मानता है और एक ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मानता है तो बोले कि दोनों एक हो गए तब हम कहेंगे कि अभिवेक है बोले दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे और नारायण दोनों को एक मानो ना दोनों को भिन्न भिन्न क्यों मानते हो ये प्रश्न है कि नहीं है अच्छा आप अपने दो बच्चों का इम्तहान लें परीक्षा लें उनसे एक गणित का सवाल पूछें और एक बच्चा मनमानी तौर पर कोई अंक लिख दे एक गणित लगा के बिल्कुल ठीक ठीक लिखे लेकिन बस दोनों का अंक एक ही हो जाए जो अंक एक ने अनजान में अंदाज से जवाब की किताब में से है ना याद करके बिना गणित लगाए वही अंक बताता है एक बच्चा जो आपका है वो गणित से बिल्कुल हिसाब लगा के सबके तौर पर बताता है कि ऐसा है आप किसको ठीक मानते हैं स्पष्ट है ना बात स्पष्ट है तो इतना ही नहीं है बात और है ना लेकिन वो है अभिवेकी एक आदमी एक नास्तिक के संग में रहा तो लौट के आया तो बोला ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं बोले कैसे मालूम अब मैं सुन के आया हूं तो वो नास्तिक अंधक श्रद्धालु हुआ कि नहीं हुआ आस्तिक भी अंधक श्रद्धालु होता है नास्तिक भी अंधक श्रद्धालु होता है अच्छा तो जो अपने को हड्डी मांस चाम का बना हुआ शरीर मानता है केवल उसके भी पुनर्जन्म नहीं है नरक नहीं है शरीर नहीं और स्वर्ग नहीं है और जो अपने को ब्रह्म जानता है उसके भी पुनर्जन्म नरक और स्वर्ग नहीं है अब आप ऐसे समदर्शी हैं कि दोनों को एक ही तराजू में तोल लें तो यदि बीज को और अंकुर को उनके व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें एक बीज तो जब धरती में गाड़ते हैं तब नष्ट हो जाता है उसमें से अंकुर निकलता है और अंकुर जो है वो नष्ट हो जाता है उसमें से बीज निकलता है हर अंकुर मरता है और हम हर अंकुर है ना हर बीज मरता है हर बीज का जन्म होता है हर अंकुर का जन्म होता है लेकिन उनका बीज का जीवन काल कितना का एक बरस या दस बरस या अंकुर का जीवन काल कितना एक बरस या दस बरस वो परिच्छिन्न जीवन हुआ ना उसमें अनंत जीवन का कहीं ज्ञान है कहीं बीज में जो संस्कार है वो अंकुर में आया और अंकुर में जो संस्कार है वो दूसरे बीज में गया और दूसरे बीज का संस्कार अंकुर में आया और अंकुर का संस्कार फिर बीज में गया बीज और अंकुर में जो वासना है जो संस्कार है जो वासनावती सत्ता है जो संस्कारवती सत्ता है बीज में है वो प्रवाह रूप से नित्य है आप देखो दो स्थिति हुई ना अंकुर के व्यक्तित्व का नष्ट हो जाना बीज के व्यक्तित्व का नष्ट हो जाना लेकिन संस्कार रूप से उनका एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे में प्रभावित होना लेकिन वहाँ चेतनता के सुषुप्त होने के कारण कर्तृत्व नहीं है इसलिए वे स्वेच्छा से अपने को जहाँ तहाँ नहीं ले जा सकते लेकिन ये जो जीव है बीज की जगह जीव है कल सुना था ना आपको कि जड़ता की प्रधानता से जिस चीज को बीज कहते हैं चेतनता की प्रधानता से उसी चीज को जीव कहते हैं मिट्टी का नाम बीज नहीं है संस्कार विशेष से युक्त मिट्टी का नाम बीज है इसी प्रकार चैतन्य का नाम जीव नहीं है संस्कार विशेष को अपने में स्वीकार करने वाले का नाम जीव है अपने स्वरूप के अज्ञान से अरे मेरे बाप तो देखो एक जीवन तो वो हुआ देह का जीवन जो प्रति व्यक्ति नष्ट होता है प्रतीक्षा नष्ट होता है प्रति व्यक्ति नष्ट होता है जैसे कोई चीज दस वर्ष में मरती है समझो तो हर मिनट में कुछ मरती होगी तब में दस वर्ष में मरेगी हाँ। जिस दिन बाल उगते हैं उसी दिन से उनके भीतर जो सफेदी है वो थोड़ी थोड़ी जाहिर होने लगती है वो फिर बालों की जवानी आती है फिर बालों का बालों का बुढ़ापा आता है तो सफेदी जाहिर हो जाती है तो एक जीवन तो वो हुआ जो प्रति व्यक्ति माने देह के रूप में नष्ट हुआ अंकुर के रूप में नष्ट हुआ बीज के रूप में नष्ट हुआ और एक उसमें जो संस्कारवती सत्ता की धारा है वो अंगूर से अंगूर में आम से आम में इमली से इमली में आंवले से आंवले में वो चलती रहे तो ये जीव की धारा अब तीसरी चीज देखो कि जिस समय न बीज का बीजत्व भागता है न अंकुर का अंकुरत्व भागता है एक आदमी को चना दे दें जिसने कभी चना देखा ही न हो न चना का अंकुर देखा हो है ना न चना पे उगते देखा हो न उसके बीज पने को जानता हो न उसके अंकुर पने को जानता हो उसके लिए वो चना क्या है न कारण है न कार्य है कारण और कार्य का संस्कार जिसके चित्त में है उसी के लिए चला है ना एक अंकुर से पैदा हुआ है इसलिए कार्य है और एक अंकुर का बीज है इसलिए कारण है लेकिन जिससे उसके कार्य कारण का भाव ज्ञान नहीं है उसके लिए चना जो है एक ऊंची नाक वाला गोली है ऊंची नाक वाली गोली हो ये तो आप जानते होंगे कि चने की नाक ऊंची होती है हाँ, एक बार गेहूं और चने में लड़ाई हुई है यूं कहता था मैं अच्छा चना कहता था मैं अच्छा तो दोनों ब्रह्मा के पास गए कि पिताजी निर्णय कर दो कि गेहूं बड़ा कि चना बड़ा तो ब्रह्मा जी ने चने से कहा कि जरा दूर से बात करो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना सोभापन है कि मेरा खाने का मन होता है तो वह तो, सिद्ध तो हो गया कि मैं बड़ा हूं तो अपमान होने से गेहूं का पेट फट गया और सम्मान मिलने से गेहूं की चने की नाक ऊंची हो गई ऐसा बोलते हैं ये बच्चों की काम है लेकिन आपको बच्चा है ना तो हम नहीं कह सकते पहले तो रिवाज ऐसी थी है ना कि महात्मा लोग महात्मा की उम्र हो दस बरस और जिज्ञासु की उम्र हो अस्सी बरस तब भी वो दस बरस का महात्मा अस्सी बरस के जिज्ञासु को बेटे ही कह के बोलता था वक्त सौम्य वक्तका मेरे नन्हे मुन्नो तो बात क्या है कि शरीर का जो बड़प्पन है ये बड़प्पन नहीं है पैसे का बड़प्पन बड़प्पन नहीं है तुम्हारी बुद्धि कितने बड़े विषय को जानती है अनंतता को जानता है जो वो अनंत हो गया और शांतता को जानता है जो तो शांत हो गया जब तुम साढ़े तीन हाथ के शरीर को जानते हो तो छोटे हो गए और जब तुम अनंत ब्रह्म को जानते हो तब बड़े हो गए असल में बुद्धि की विशालता ही विशालता है ज्ञान की विशालता ही विशालता है शरीर की विशालता विशालता नहीं है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे ये नहीं कि व्यास जी के शरीर का वजन ज्यादा था इसलिए व्यास जी बड़े थे तो उनके पास पैसा ज्यादा था इसलिए बड़े थे अच्छा तो कार्य भी जहाँ अभिव्यक्त नहीं हुआ और कारणता भी जहाँ देखने में नहीं आते तो उस मनुष्य के लिए चने की जो अज्ञात दशा है ना वही कारण दशा है और जरा अपनी ओर देखो जो मन्नी प्रपद्यंते शरीर स्वाय अपने आप को तुम क्या समझते हो एक आदमी संध्या बंधन तो नहीं करता लेकिन साथ खेलता है, है? मंदिर का दर्शन तो नहीं करता लेकिन सिनेमा देखता है एक आदमी अपने को जीव तो नहीं मानता लेकिन देह मानता है तो उसकी मान्यता जो है वो विचार की कसौटी पर कसने योग्य है तो हम ये बात मानते हैं कि जो जीवत्व की स्थिति है वो कल्पित है भौतिक दृष्टि से यदि तुम अपने को जड़ सत्ता मात्र मानते हो तो जीवत्व कल्पित है और अपने को यदि अखंड ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म सत्ता रूप से स्वीकार करते हो तो, तो भी जीवत्व कल्पित है तो जीवत्व की कल्पना जो है वो एक विशेष स्थिति में एक विशेष प्रयोजन से की हुई है आप समझो कि कोई मजहब ऐसा नहीं होता जिसमें मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व तो न माना जाता हो मन धर्म का प्रारंभ ही यहाँ से होता है कि शरीर के अलावा भी इस शरीर के अतिरिक्त भी तुम्हारा अस्तित्व तो है यहाँ पाप करोगे तो शरीर के बाद दुख भोगना पड़ेगा और यहाँ पुण्य करोगे तो शरीर के बाद सुख मिलेगा इसलिए पाप मत करो पुण्य करो ये शिक्षा देने के लिए संसार के सारे मजहब शरीर से परे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं भले पुनर्जन्म माने कि न माने मुसलमान ईसाई पारसी बौद्ध जैन इस मत में इस बारे में सब एक मत है सैकड़ों मत है और सब सैकड़ों पंथ दुनिया में बने और सैकड़ों अभी और बनेंगे और सैकड़ों इस समय हैं तो वे देखो केवल देह को आत्मा मानो तो जन्म है ना तो केवल जन्मना और मरना दो चीज तो है तुम्हारे अंदर लेकिन पुनर्जन्म नहीं है नरक स्वर्ग नहीं है और यदि केवल ब्रह्म को आत्मा मानो तो न तुम्हारा जन्म है न मरण है न भूख है न प्यास है न शोक है न वो है, हैं? लेकिन तुम जीव नहीं हो तो अपने को ब्रह्म जान करके जीवत्व का बाद है और अपने को देह मान करके देह स्वीकार स्वीकार करके जीवत्व की अस्वीकृति तो आजकल की जो नास्तिक परंपरा है वो अपने को देह मान करके जीवत्व को अस्वीकार करती है बड़ा और हमारे जो पुराने महात्मा हैं वो अपने को ब्रह्म जान करके जीवत्व की भ्रांति को मिटा देते हैं तो एक कालेज का छोकरा कहे कि जन्म नहीं मरण नहीं नरक है नरक नहीं स्वर्ग नहीं मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं तो वो अपने को हड्डी मांस काम मान करके करता है वो जन्म और मरण के घेरे में अपने अस्तित्व को मानता है कि जन्म से हमारा अस्तित्व प्रारंभ हुआ और मृत्यु तक समाप्त हो जाएगा और उसके बीच में मैं भूख से प्यास से शोक से मोह से ग्रस्त हूँ ये उसका अब ये जो बीच की जो सीढ़ी है ना जो निमन्ये प्रपद्यंते शरीर देहिना तो केवल बीज के व्यक्तित्व को ही यदि तुम अपना व्यक्तित्व मानोगे तो बीज तो धरती में डालने पर नष्ट हो जाएगा लेकिन बीज में जो संस्कार है वो धरती में डालने पर नष्ट नहीं होते वो अंकुर के रूप में उसके संस्कार जो है वो अंकुर के रूप में उगते हैं अच्छा और उस अंकुर को ही यदि तुम मैं मानो तो अंकुर के नष्ट हो जाने पर तुम नष्ट हो गए लेकिन अंकुर में जो संस्कार है उसके साथ अपना संबंध मानो तो अगले बीज के रूप में अगले बीज के रूप में तुम फिर पैदा हुए ये तुम्हारा ही प्रवाह रूप से जैसे एक गेहूं का ही एक चने का ही प्रवाह रूप से एक एक आंशिक दृष्टि से देखो परिच्छन दृष्टि से देखो व्यक्ति दृष्टि से देखो तो उसका जन्म और मरण हो करके उसका अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है और उसी को संस्कारवत्ता की दृष्टि से देखो तो वो प्रवाह रूप से प्रवाह रूप से नित्य है उसी को देखो तो उसकी कार्यावस्था और कारणावस्था दोनों है इसी प्रकार अपने देह पर विचार करो ये देह जो है ये अंकुर है कि बीज है हाँ। एक चीज जहाँ होती है या तमाम वस्तु जहाँ होती है ना जैसे समुद्र में जल एक है तो उसमें कहीं ज्वार होना और न होना ये कैसे होगा इसके लिए कोई निमित्त चाहिए ना आकर्षण शक्ति विकर्षण शक्ति कुछ मानो हवा का निमित्त मानो और नहीं तो हवा वायु को ही निमित्त मानो इसी प्रकार एक एक तरह का बालू है और वहां जब लहरदार लकीरें बालू में पड़ जाती हैं तो वो बालू स्वयं वैसा नहीं होता ना उसके लिए कोई निमित्त होता है क्या तो वायु होती है बोला एक चीज कभी गर्म कभी ठंडी होती है तो उसमें सूर्य का ताप निमित्त होता है इसी प्रकार पंचभूत जब सबके शरीर में है तो सबके शरीर में एक पंचभूत होने पर भी जब स्त्री अलग और पुरुष अलग पशु अलग और मनुष्य अलग ये होते हैं तब ये विचार करना पड़ेगा कि जैसे पौध की जातियों में अलग अलग संस्कार होते हैं वैसे अलग अलग संस्कार से युक्त होकर के ही ये पशु पक्षी मनुष्य आदि जातियां बनी हुई हैं इनके लिए कोई संस्कार होना चाहिए और संस्कार कहाँ से आता है संस्कार कर्म और भोग से आता है बोला मनुष्य के जीवन में जैसा कर्म करोगे वैसा संस्कार होगा जैसा भोग करोगे वैसा संस्कार होगा जैसी तुम्हारी बुद्धि होगी वैसा संस्कार होगा और जैसा तुमको सिखा दिया जाएगा वैसा संस्कार होगा बोला इसके लिए उपनिषद में बृहदारण्य उपनिषद में बड़ा सुंदर विवेक है इसका है ना ये कोई ऐसा हाई स्कूल में जाके और बच्चों के सामने है ना एक व्याख्यान दिया और उनसे ताली बिटवा ली कहा जीत हो गई भाई अब हार गया सत्य सनातन धर्म हार गया नास्तिकता जय नास्तिकता की जय तो जहां अपने को हम ब्रह्म अनंत अद्वय है ना शुद्ध चैतन्य खाली बिल्कुल दूसरी कोई चीज नहीं जिसमें देश नहीं काल नहीं वस्तु नहीं जब तक हम अपने को अद्वय परिपूर्ण अविनाशी अपरिच्छिन्न चैतन्य नहीं जानते तब तक कहीं न कहीं परिच्छिन्न में ही हमारा मैं रहता है और जब परिच्छिन्न में मैं रहता है तो व्यक्ति दृष्टि से परिच्छिन्न की मृत्यु होगी प्रवाह की दृष्टि से वो परिच्छिन्न वस्तु भिन्न भिन्न आकृतियों को बदलती हुई सृष्टि में बहती रही भिन्न भिन्न आकृतियों को बदलती हुई सृष्टि में बढ़ती रही और कारण रूप से कारण रूप जो व्यक्तित्व है वो बना रहेगा को काटने के लिए और इसके व्यक्तित्व और प्रवाह और करो के लिए आग जलाने की जरूरत पड़ेगी उसके सत्ता में जो संस्कार जलाने के लिए आग की जरूरत सत्ता में जो संस्कार है उसको जलाने के लिए आग की जरूरत पड़ेगी और चेतन सत्ता में जो संस्कार की स्वीकृति है उसको जलाने के लिए ज्ञान आदमी की जरूरत पड़ेगी ज्ञान आदमी को जैसी चीज होगी जलाने के लिए जैसी चीज होगी तो जड़ सत्ता के संस्कार जलाने हैं और तो फूल अग्नि की जरूरत पड़ेगी संस्कार को जलाना है तो ये पर सरकार के संस्कार को जलाना है तो ज्ञान अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी तो मन में प्रपद्यंते शरीर रेहिना इस मोटर तुम बन गए थे ही इसको मान लिया इस मोटर में बैठ गए और उसको मान ली भोग की इतनी वासना है कि शरीर से पूरी भोग की इतनी वासना है कि एक शरीर करने के लिए भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ेगा भाणुमन्येनु संजंती हाँ। दूसरे लोग जो हैं वो जड़ जातियों में ही चले जाएंगे क्यों बोले यथा कर्म यथा सुखम बृदारण्य उपनिषद का मंत्र है कम विद्या कर्मणी समन्वार भेटे पूर्व प्रज्ञा हाँ। शरीर की प्राप्ति कैसे होती है तो जैसा सिखा दिया जाएगा कि ऐसा शरीर मिलेगा वैसी कल्पना हो जाएगी जैसा कर्म किया जाएगा है ना वैसा भाव बन जाएगा और जैसी पूर्व पूर्व की प्रज्ञा होगी बुद्धि होगी उसका प्रभाव पड़ेगा इसके अनुसार मनुष्य को जथा प्रज्ञम भी समझा प्रज्ञा के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति होगी जैसा सुनोगे जैसा सोचोगे जैसा करोगे जैसा भोगोगे उसके संस्कार से युक्त होकर के वैसी वैसी रीति स्वीकार करनी पड़ेगी लेकिन यदि तुम अपने आप को जान लो ये बात काय के लिए कही गई हो ये बात इसलिए कही गई आ, जैसे महात्मा लोग बोलते हैं अरे मानव जाग है ना तो जनता जनार्दन के रूप में <laughs> उपस्थित मेरी प्यारी आत्माओं जैसे आप लोगों को प्यारी कहने की कैसी बुद्धिमानी है है ना तो क्या बुद्धिमत्ता है तो हमारे प्यारे प्यारे प्यारे नहीं प्यारी आत्माओं और आप विचार करके देखो इस झगड़े से छूटने का उपाय क्या है इस झगड़े का छूट झगड़े से छूटने का एक ही उपाय है न तो व्यक्तित्व की दृष्टि से तुम्हारी मृत्यु हो और न तो वासनावान की दृष्टि से तुम्हारा जीवन प्रवाही नित्य हो और न तो कारण की दृष्टि से निष्क्रिय नित्य हो हाँ, प्रकृति का जीवन जो है ना हमारा तो न तो तुम्हारा जीवन प्रकृति का हो और न तो तुम्हारा जीवन पंचभूतों का हो न तो तुम्हारा जीवन देह का हो ये देह का जो जीवन है ये जन्म मृत्यु से ग्रस्त है और पंचभूतों का जो जीवन है वो प्रवाही जीवन है और प्रकृति सत्ता जो है वो कारण रूप से है इन सबसे बचाने का उपाय क्या है इन सबसे बचाने का उपाय ये है कि इन तीनों से विलक्षण भी इनका साक्षी है ना इनका दृष्टा इनका प्रकाशक प्रकाशक ने थोड़ा थोड़ा अधिष्ठान के बारे में भी सोच लिया करो भाई अधिष्ठान का बहिष्कार मत करो कोई वेदांति हो करके और विचार से कतराए ना कि इसके बारे में हमको सोचने की क्या जरूरत है तो समझना कि वो अपने घर में अंधेरे को रखना चाहता है जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हो तो बोले उस कोने में देखने की क्या जरूरत है <coughs> एक एक दिन कलम हो गई हो कलम हो गई तो आले में ढूंढी गई वो कलम में ढूंढी गई है ना वो बिस्तर हटा के ढूंढी गई बड़ी हटा के ढूंढी गई बकस के भीतर ढूंढी गई नहीं मिली अब महाराज जब हनुमान जी का प्रसाद मिला मिला मना हनुमान जी का प्रसाद बन गया तो क्या हुआ कि जब चलने के लिए बिस्तर बनने लगा है तो बकस जब अपनी जगह से हटाया गया तो उसके नीचे मिल गई तो ढूंढने में जब हम ढूंढने में जब ये सोचते हैं ना कि वहां ढूंढने की क्या जरूरत है वहां तो हो ही नहीं सकते है तो ये हम ढूंढने में आलस्य करते हैं गलत जब हम किसी वस्तु पर विचार करने से परहेज करते हैं कतराते हैं तो बोले दृश्य क्या है इसका विचार छोड़ दो हम तो दृष्टा है फिर थोड़ी देर के बाद जब तुम्हारा ये दृष्टापन की पकड़ जो है ना ये दृष्टापन का जो तनाव है जो ध्यान है जो खिताव है जब ये छूटेगा तो इसी दृश्य से तो मिल के तुमको रहना पड़ेगा इसी दृश्य का मरना देखना पड़ेगा इसी दृश्य का जीना देखना पड़ेगा इसी की अनुकूलता इसी की प्रतिकूलता देखनी पड़ेगी थोड़ी देर के बाद उसको अपना मैं जब बोलोगे तो तुमको बहुत तकलीफ देगी तो क्यों नहीं पहले विचार कर लेते कि ये दृश्य पत्ता क्या है, हैं? तो इसी की जरूरत पड़ती है नहीं तो वृत्ति टिकेगी नहीं दृष्टा होकर रह नहीं सकते दृश्य को उड़ाना पड़ेगा ये बात जरूर है कि ये दृश्य जो है ना वो जिस अधिष्ठान में रहता है तो हम तभी तक उसको अन्य जानते हैं जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ऐसा समझो मैं आपको अधिष्ठान और दृष्टा का फिर आपका भेद बताता हूं क्योंकि ब्रह्म को समझना ये जो साफ दिखता है ना ब्रह्म से तो ऐसा मालूम पड़ता है ना कि साफ का अधिष्ठान रखती है इस बात को एक बार समझ लो और पाप को देखने वाला अंतकरण में बैठा हुआ एक भ्रम का अधिष्ठान है और एक भ्रम के विषय का अधिष्ठान है ऐसा लगता है कि नहीं आप यदि कभी विचार करते होंगे तो मालूम पड़ेगा कि नहीं तो देखो भ्रांति तो अंतकरण है तो अंतकरण का अधिष्ठान तो मैं हूं माने भ्रांति का अधिष्ठान तो मैं भूल तो मुझे हो रही है ऐसा लगता है कि नहीं तो भूल मुझे हो रही है और सांप कहाँ है बोले रस्सी में है सांप का अधिष्ठान रस्सी और भूल का अधिष्ठान है लेकिन ये बात गलत है हो क्योंकि वो जो सांप है वो रस्सी में नहीं है तुम्हारी भूल में है तो धूल का जो अधिष्ठान है वही ताप का भी अधिष्ठान है जो जो ताप का अधिष्ठान है वही धूल का अधिष्ठान है ऐसा जो लगता है ना अच्छा जो ये लगता है आप अपने सिर में लगा लो चंदन और शीशे में अपने आप को देखो तो मालूम पड़ेगा कि शीशे में जो हमारी परछाई है शीशे में चंदन है शीशे में दिखने वाली परछाई में चंदन है लेकिन असल में है ना चंदन का अधिष्ठान तुम्हारा शरीर है चंदन का अधिष्ठान शीशे में दिखने वाली परछाई नहीं है नारायण तो ये जो दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता तुम्हारा शरीर है चंदन का अधिष्ठान शीशे में दिखने वाली परछाई नहीं है नारायण तो ये जो दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ता है ना ये अनंत के स्वरूप के अज्ञान से अनंत का स्वरूप कैसा होता है अग्रह उसमें देश कल्पित है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अनंत में कल्पित है और आज कल परसों भी अनंत में कल्पित है आज कौन सा दिन है आपको तो मालूम है रविवार है है ना रविवार ही है ना भला बताओ काल के राज्य में आज रविवार हो सकता है, है? कथा आज कौन सा हफ्ता है नारायण हफ्ता हो सकता है काल के काल में ये दिन रात हमारी आंख के सामने आते हैं इनके हिसाब से ये रविवार मंगलवार सोमवार का तो कुछ ठिकाने ही नहीं है कहीं है ना एक नहीं हजार जो किसी ग्रहों के द्वारा सिद्ध करें कि चंद्रमा का प्रभाव जिस दिन ज्यादा रहता है वो सोमवार और सूर्य का प्रभाव जिस दिन ज्यादा रहता है वो रविवार और मंगल ग्रह का प्रभाव जिस दिन रहता है वो मंगलवार नहीं वो तो ग्रहों का नाम याद हो जाए आदमी को सबको ग्रहों का नाम याद रहे हाँ। जैसे आपके घड़ी में मिनट होता है ना एक घंटे में सात मिनट तो साखों का नाम रख लो तो, तो mister Ram mister Shyam mister सोन मिस्टर मोहन है ना सात नाम रखो मिल है ना एक घंटे के सात मिनटों का और एक एक, एक मिनट के सात सेकेंडों का नाम रख लो है ना तो वो नाम है सेकेंडों का सेकेंडों का नाम जैसे आप रखो तो गलत होगा कि नहीं गलत होगा कि नहीं जैसे आप मिनटों का नाम रख लो है ना तो नाम नहीं रखते हैं एक मिनट दो मिनट तीन मिनट रखते हैं एक दो तीन भी गलत है ना हाँ वो घंटा वो घंटे भी गलत है वो दिन रात की गिनती भी गलत है वो महीना और वर्ष की गिनती भी गणित काम चलाने के लिए सारा का सारा काल के पेट में ये सारे के सारे काम हम लोगों का आपस में काम चलाए ढंग से ये कल्पित है इसी प्रकार अनंत वस्तु में जो हम ब्रह्मांड को या ब्रह्मांड कोष को मानते हैं वो अपने काम चलाऊ दृष्टि से व्यावहारिक दृष्टि से मानते हैं वो वस्तु में है नहीं तो जिस अंतकरण में अनंत का अज्ञान है, है? जिस अंतकरण में अनंत के संबंध में भ्रांति है उसी अंतकरण में भ्रांति का विषय उस भ्रांति का जो अधिष्ठान है आत्मसत्ता चैतन्य सत्ता वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी अधिष्ठान है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठान के रूप से माना हुआ जो ईश्वर और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दृष्टा रूप से जो माना हुआ आत्मा वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मिथ्या होने के कारण कल्पित होने के कारण कल्पना के विषय के ब्रह्मांडों का अधिष्ठान भी आत्मयी है और कल्पना का अधिष्ठान भी आत्मयी है असल में ब्रह्मांडों का अधिष्ठान ईश्वर जुदा नहीं है और ब्रह्मांडों की कल्पना का अधिष्ठान जो आत्म तत्व है वो जुदा नहीं है अच्छा अभी एक बात देखो तो आगे आई रही है मंत्र में यथा कर्म यथा स्वरूप जो इस सुते सुजागर थी कामम कामम आ रहा एक दिन हमने सपने में देखा हो विराट भगवान प्रगट हो विराट भगवान के बारे में तो आप लोगों ने जरूर रामायण में पढ़ा होगा भागवत में पढ़ा होगा अर्जुन ने जिनको देखा जसोदा मैया ने देखा है और और धृतराष्ट्र ने देखा उत्तंक ने देखा और प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कौशल्या ने देखा अच्छा तो हमको सपने में विराट भगवान का दर्शन हुआ तो एक तो विराट भगवान था और एक अर्जुन की तरह मैं था तुमको और था सपना ये मत समझना कि हम कोई अपना चमत्कार सुना रहे हैं बोले मतलब चमत्कार नहीं सुना रहे हैं हाँ। हाँ। हर बात में अपने को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए बात तो ठीक ठीक समझना चाहिए चमत्कार वमत्कार नहीं है तो एक तो मैं था हो मेरा नाम यही था स्वामी अखंडानंद और यही कपड़े थे और ऐसे ही मैं मोटा था बोला ऐसे ही बड़ा बड़ा पेट है हाँ। और हमारे सामने महाराज जिनके सिर में ब्रह्मलोक और जिनके पाताल में जिनके पाव में पाताल लोग हैं और जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड तो वो विराट प्रकट है मैंने प्रणाम किया स्तुति की उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो अच्छा जो मैंने मांगा तो उन्होंने दिया उसके बाद महाराज कपड़ा टूट गया अब हम आपको पूछते हैं कि उस समय जो स्वप्न को देख रहा था वो अखंडानंद रूप अहम पदार्थ का व्यस्ती पदार्थ का हो व्यस्ति मनुष्य का अखंडानंद रूप व्यस्ति मनुष्य का और विराट रूप दृश्यमान समष्टि का दोनों का अधिष्ठान एक था उस समय की दो था जो स्वप्न का अधिष्ठान था वही व्यक्ति और समस्ती दोनों का अधिष्ठान था कि नहीं था है? वही व्यक्ति और समस्ती दोनों का दृष्टा था कि नहीं जो अखंडानंद नामक शरीर को देख रहा था वही उस विराट सृष्टि युक्त वस्तु को भूत किलभूत आकार वस्तु को देख रहा था कि नहीं तो दोनों का दृष्टा चैतन्य भी एक था और अधिष्ठान चैतन्य भी एक था और है ना ये व्यक्ति और समष्टि के दासना से दासित अंतकरण में जो व्यक्ति और समष्टि की फुरना हुई थी उस फुरना मात्र व्यक्ति का अधिष्ठान दृष्टा जो था उस समस्ती रूप समस्ती रूप फुरना का भी अधिष्ठान और दृष्टा वही था तो ये इस शरीर में जो मैं करके जागृत में बैठा हुआ है ना और जो ये समस्ती को देख रहा है तो जो इसको देख रहा है वही समस्ती को देख रहा है जो इसका अधिष्ठान है वही समस्ती का अधिष्ठान है अधिष्ठान में समस्ति और व्यक्ति का भेद नहीं है दृष्टा में व्यक्ति और का भेद नहीं है दृष्टा असल में ये जो दृष्टा है असल में ये जो ये जैसे इस शरीर का दृष्टा है जैसे इस अंतकरण का दृष्टा है इसी विचार का दृष्टा समझो कि नाक से दृष्टा तुम हो कि नहीं हो समझो कि नाक में जो गंध की भक्ति होती है ये चमेली की गंध है ये नाक की गंध है ये चमेली की गंध है ये नाक की गंध है नाक से जानने वाला है वही गंध को जानने वाला है दूसरा है जानने वाला है ये जो ज्ञान वृत्ति का दृष्टा और अधिष्ठान है वही गंध वृत्ति का दृष्टा और अधिष्ठान है अधिष्ठान है वही गंध वृत्ति का अधिष्ठान है था कि आत्मदेव जो है वो अद्वितीय है इस दृष्टांत को इतना स्पष्ट करके समझाया हुआ है विचार रखने का किसी को सुन के कोई अभी सपने की बात क्यों करते हैं आप विचार करने का सपने की बात कौन करते हैं अगर कोई आदमी यहाँ से राम राम राम तुम सपने की बात कौन कर रहे हो हर परिवार नहीं है तर्क वितर्क वितर्क युक्ति प्रवृत्ति का नाम वेदांत नहीं ये तर्क कुतर्क वितर्क युक्ति प्रत्युक्ति का नाम वेदांत नहीं है वेदांत का नाम वेदांत उसको कहते हैं जिसको तुम अपनी बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझ सकते न बुद्धि की जागृत दशा में बुद्धि का विषय बना सकते और न तो बुद्धि की शांति दशा में है ना उसको विषय बना सकते हैं जिसको जागृत में भी नहीं देख सकते और सुसुप्ति में भी नहीं देख सकते सुसुप्ति में साक्षी सुसुप्ति को देखता है लेकिन अपने अपनी ब्रह्मता को नहीं देखता है साक्षी सुसुप्ति में सुसुप्ति अवस्था को देखता है सुसुप्ति साक्षी बात है लेकिन मैं ब्रह्म हूँ अपनी ब्रह्मता को नहीं देखता है शांति में सुसुप्ति सुधार की शांति और कोई नहीं होती तो नारायण समाधि में समाधि में आप समाधि को देख सकते हो लेकिन समाधि में अपनी ब्रह्मता को नहीं देख सकते जागृत दशा में आप अपने शरीर को अपने मन को देख सकते हो लेकिन अपनी ब्रह्मता को नहीं देख सकते जो बात आप सहज स्वभाव से किसी भी अवस्था में नहीं देख पाते क्या अपना ब्रह्म होना अपना अद्वय होना अपना अनंत होना अपना अपरिच्छिन्न होना अपना चिन्ह मात्र होना ये जो बात आप कभी दृश्य नहीं बना सकते उस बात को बताने के लिए उपनिषद की प्रवृत्ति हुई है और यदि आपकी देखी हुई बात को ही उपनिषद बताती तो उपनिषद प्रमाण नहीं होती क्यों वो अनुवादक होते आपके अनुभव का अनुवाद कर रही है आपकी बुद्धि आपकी बुद्धि में जो बातें आती हैं वो लिखी हुई है उपनिषद में बुद्धि का अनुवाद है है ना जैसे डॉक्टर के रजिस्टर में क्या रहता है कि उसने जिस रोगी पर जिस दवा का प्रयोग किया है उसका जो नतीजा हुआ है वो लिखा रहता है तो ऐसे वेद शास्त्र भी डॉक्टर के रजिस्टर होते बोला ये डॉक्टर को रजिस्टर नहीं है ये किसी भी प्रमाण से अज्ञात जिसको स्वयं साक्षी भी नहीं जान सकता क्या अपनी ब्रह्मता साक्षी भाष्य कभी नहीं हो सकते अपनी ब्रह्मता साक्षी का दृश्य कभी नहीं हो सकते है? उस बात को बताने के लिए ये वेदांत ये वेदा वेदांत का प्रमाण ब्रह्म के संबंध में अकाश्य है अखंड है दूसरे किसी प्रमाण से अगर नाश के ब्रह्म मालूम पड़ जाए तो वेदांत व्यर्थ अगर आप के ब्रह्म मालूम पड़ जाए तो वेदांत व्यर्थ अगर साक्षी को ब्रह्म दिख जाए तो सुसुप्ति समाधि मूर्खा में सबको ब्रह्म दिख जाए और सुख दुख जन्म मरण संबंध रिश्ता नाता सबसे मुक्ति हो जाए हाँ। लेकिन जो किसी भी प्रमाण से जो वस्तु नहीं मालूम पड़ती उसको ये वेदांत बताता है वो कह रहा है सदैव शुक्राम तद ब्रह्म अमृत मुख्य है आए आए विचार करें जो ब्रह्म क्या है वो अमृत है वो अपना आत्मा है ये बात वेदांत के द्वारा जानी जाती है ओम शांति शांति शांति